सामान्य आदमी इस बात को जानता नहीं है देहादि विलक्षण न हम जाना देहादि विलक्षण जो आत्मा मैं और मैं अपने आप स्वरूप से इन सबको जान रहा हूँ देहा संगातों में जाना मिति तू तो सर्वो को अवगछित बल्कि उल्टा है देहादि संगात वाला जो मैं वो जो विशिष्ट रूप में वही मैं इस सारे चीज को जानता हूँ ऐसी ही सारी दुनिया जानती है सिद्धांत में भाष्य कर देना तो एवं अच्छा ऐसा नहीं है इसलिए तो गंवार भी कहते आज मेरा मूड खराब है क्योंकि अपने मन को देख रहा है ना नहीं तो कैसे जान लिया उसने यदि मनादी वाला ही जान पाएगा तो मन को मन तो नहीं जान सकेगा ना तो मनादियों से भिन्न व्यक्ति तो जान रहा है उसको तुम्हारा बुद्धि खराब है अरे उसकी बुद्धि भी देख लिया नहीं बोलते तो बुद्धि खराब है कभी अपनी बुद्धि बदलते मेरी बुद्धि आज ठीक नहीं है कहते ही नहीं कहते अपने आप को आप अलग करके देख ही रहे हो दूसरे का अहंकार देखो ना कितना ढीठ बन गया बड़ा अहंकारी दुराभिमानी होके चल रहा है राम राम भी नहीं करता है लोक व्यवहार तो होता ही नहीं होता इसमें अगले का अहंकार भी आपको दिख रहा है तो कैसे कहते हो मैं अहंकार आदि वाला हूँ इन सब से आप अलग ही हो ये स्पष्ट है और जब खुद को अहंकार पर चोट लगता है तो पता लग जाता है वो कैसा उसका चेहरा होता है कैसा बैठा होता है चाय पानी भी छोड़ देता तो इसीलिए न तो हम भाषकर कहते ऐसी बात नहीं है विवेक करके देखो विचार करके देखो हर व्यक्ति अपने आप के सबसे अलग अनुभव करता ही है अनुभव तो कर रहा है लेकिन यही है कि उसको स्वतंत्र ग्रहण करके उसी स्वरूप में स्थित होकर के सदा ही अहम बुद्धि और मम इत्यादियों को दृश्य रूप ग्रहण नहीं कर कभी कभी बाह्य निमित्त के कारण से थोड़ा बहुत ऐसे समझ लेता है मेरा मन खराब है मेरी बुद्धि खराब है मेरा अहंकार खराब बिगड़ गया है इत्यादि इत्यादि व्यवहार कर लेता है लेकिन वो निमित्ताधीन होकर कर रहा है ना अतएव उसको विवेक जो हुआ भी कुछ क्षणों के लिए कुछ समय के लिए उस विवेक सेवा दृढ़ता पर सर्व प्रतिष्ठित नहीं हो पाता इतना ही है क्योंकि उसको जो स्थिति में आया है अपने आप को अलग जो देख रहा है वो विवेक जन्य ज्ञान नहीं है द बाह्य परिस्थिति जन्य ज्ञान इतना ही फर्क है लेकिन इतना तो अनुभव तो जरूर कर ही रहा है चाहे कुछ क्षणों के लिए चाहे बाह्य निमित्तों से क्यों हो स्व को इन सबसे भिन्न जान रहा है देहादि संघात से अभी शब्द स्वरूपत्व अविशेषात विज्ञेत्व अविशेषात नहीं विज्ञात भाष्यकार स्पष्ट करते देखो ये जो देहा संघात है और शब्दादि स्वरूप से भिन्न नहीं है शब्दादि स्वरूप अविशेषा स्वरूपदादि स्वरूप जो बाह्य विषय है उनसे भिन्न ये शरीर आदि रूप विषय नहीं है क्योंकि विज्ञेयत्व अविशेषा यहाँ दीर्घ दो ठीक है तो ठीक है नहीं तो कर देना विज्ञेयत्व अविशेषाच क्योंकि ये भी विज्ञेय ही है इनको भी हम जान रहे हैं अतः नयुक्तम विज्ञातृत्व इसे इनके अंदर देहा संघात नयुक्त विज्ञातन इनके अंदर विज्ञातत्व मानना उचित नहीं दो हेतु दिया एक तो शब्दादि विषयों से भिन्न नहीं है उसके समान ही ये भी हैं और दूसरी बात कहने का तात्पर्य है विज्ञत्व क्या इनके अंदर विज्ञत होने के कारण से ये स्वयं विज्ञाता नहीं हो सकते क्योंकि जो विज्ञाता है वो विज्ञान कभी नहीं हो सकता नहीं विज्ञात मर विजानी आप ऐसे स्पष्ट मैत्री कई बार कह चुके हैं इसलिए इस आत्मा को कोई जान नहीं सकता है आत्मा विज्ञ नहीं हो सकता और जो भी विज्ञ होगा वो आत्मा नहीं हो सकता और देहा संघात हमारे विज्ञ है वे विज्ञाता आत्मा नहीं हो सकता है यदि देहाज संघात रूपाध्यात्मक सन रूपाधीन विजानियात बाह्य रूपादेव अन्योन्यम स्वम स्वरूपम च यदि कहोगे देहाय संघात को विज्ञाता मानोगे और वो रूपाध्यात्मक होते हुए बाह्य रूप को ग्रहण कर रहा है जो ध्यान कैसा है तो रूपाध्यात्मक है होते हुए बाह्य रूप को ग्रहण कर रहा है आते हुए उसको विज्ञान से कहोगे हम कहीं फिर घट भी दूसरे घट को जानना चाहिए ठीक है घट भी क्या है रूपाध्यात्मक है वो दूसरे का रूप को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है आपको कहना पड़ेगा कि रूपाध्यात्मक से कोई दूसरा चीज भी उसके अंदर होगा जो दूसरे रूप को देख रहा है और वो रूपाध्यात्म होते हुए उसके अंदर वो चीज नहीं है जो इसमें विशेष है जिस कारण से वो घट दूसरे घट को जान नहीं सकता तो विशेष का ही नाम आत्मा है और वो जय संघर्ष भिन्न है ये मानना ही पड़ेगा युक्ति से सिद्ध कर दे भाषिकार ने देहाय संघात तो पहले श्रुति प्रमाण दे दिया विज्ञता विशेष इत्यादि उनके द्वारा नहीं देहा संघात तो और रूपाध्यात्मक सन रूपाध्यात्मक होते हुए जो देहा संघात रूपाधीन विजानियात रूपाधियों को जानता है ऐसा आप यदि कहते हो तब तो बाह्यापि रूपादय मैंने बाह्य भी जो घटा दी है जो वे क्या करेंगे फिर अन्योन्यम स्वम समूपम च विजानी हो एक दूसरे का और अपना अपना भी रूपादियों को जाननी चाहिए ये आपत्ति है न चाहिए दस्ती लेकिन ऐसा होता नहीं है तस्मात इसलिए निष्कर्ष निकला देहादि लक्षणांश रूपादीन ये नहीं देहादि व्यतिरिक्त नहीं वह निष्कर्ष निकला इसलिए ये जो देहादि रूपा है वस्तु अर्थात रूप रसगंधात्मक जो पंच भौतिक है अपंचकृत पंच महाभूत आधारित पंचकृत पंच महाभूतात्मक के जो संगठनात्मक शरीर है इन सभी से विलक्षण देहादि व्यतिरिक्त नहीं देहादि से जो भिन्न है विज्ञान स्वभाव आत्मना विजानाती लोक विज्ञान स्वभाव वाला आत्मा से ही यह दुनिया जान रही है यह बात आपको मानना ही पड़ेगा यथा ये न लोह दहती सोग निधि जिस प्रकार से लोहो दहती किसी ने प्रयोग प्रयोग कर दिया अरे लोहा जला रहा है लेकिन आदमी समझ रहा है कि वही लोहा तो जला नहीं सकता लोह के अंदर जो अग्नि का अभ्यास हुआ है तालाब में हो रखा है वो अग्नि ही जलाया है जल जला दिया ऐसा लोग कह तो देते हैं किसे जला अरे दूध ने जला दिया अरे दूध जलाया होता तो गाय ही मर गई होती गाय के अंदर ही तो दूध है लेकिन दूध जलाने वाला वस्तु नहीं है हमें पता है दूध में जो तादात्म का अग्नि तत्व तो उसने जलाया है इसी प्रकार से हर मंदाति मंदाति मंदाति मंद तर मंद तम पुरुष भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि शरीर जानने वाला चीज नहीं है शरीर के भीतर मैं हूँ मैं कौन जो स्वर्ग आदि को आने जाने वाला वो आत्मा ही वास्तव में इस शरीर के माध्यम से सारे जगत को जानता है ऐसे हर व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है समझ तो सभी रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं उस स्वरूप में प्रतिष्ठित कितने हो रहे हैं वो तो साधकों में भी कोई कोई होता है स्वरूप प्रतिष्ठा एक अलग चीज है और ये जान लेना कि वह शरीर से भिन्न मई हूँ ये जाने बिना तो कर्म भी नहीं कर सकता है भले ही चार वाक कहे शरीर से बिना आत्मा नहीं है भले ही वैज्ञानिक कहे विदेशी कहे कोई भी कहे लेकिन जो है वह अपनी अपनी कट्टरता में बोल दे रहे हैं अभी एक वजह से बोल रहे हैं लेकिन वास्तव में कुछ भी कर रहे हो एन मौके पर उनके सामने से मुंह से निकली जाए ओ गॉड क्या को बोल रहे हो भाई गौड़ कहा से आ गया आप जितने भी हमने देखा कट्टरतम नास्तिकों के साथ हम घूमे देखे तमाशा और वो खतरे में डाल के देखा जान करके खतरे में डाला ऐसा खतरे में डाल दिया तो चिल्लाने लगा भगवान भगवान हरी राम नहीं क्या हो गया तुम्हारा भी कोई भगवान है क्या बड़े बात करते हो तो कहते हो सब पाखंडे अमुक है धमुक है अब कहा गया तेरे मुंह से भगवान वो क्यों अपने बल पर बोलो ना कुछ और हार मान लेते कितने वास्तव में कोई चीज है जब खतरे में आवाज उसी की आती है जब खतरे में पड़ते हैं हम उसी का नाम याद आता है तो ऐसे कई लोग हमने देखा कई तो परिवर्तित हो भी गए ईसाई था एक दो तो दोस्त था वो बदल गया हिंदू बन गया घर ही छोड़ दिया माँ बाप सबको छोड़ दिया नहीं मानते तो मत माना हम नहीं असली यही है ईसाई पिसाई में कुछ नहीं होता है झूठ तो यीशु बचाता है क्या यीशु बचाएगा नहीं हो सकता वो हम ठगते हैं वो लोग तरीका उनके पास बहुत है ठगने का उन्होंने क्या किया क्या तुम्हारा हनुमान जी बचा वो डुप्लीकेट है ना केवल गोली खाली गोली नहीं आती खाली गोली जिससे कोई दवाई नहीं होता है कैप्सूल खाली खाली होते हैं जो वो दे देते हैं लो अपने भगवान का नाम लेकर के खाओ वो, वो क्या ठीक करे वो तो और बुखार बढ़ा जाएगा सर दर्द और बढ़ेगा तो दवाई तो खाई नहीं आपने असली तो फिर बाद में दो चार दिन ऐसे परेशान करके फिर असली दवाई दी बहुत तेज मारा देखो यीशु का नाम लेकर खाओ जैसे दवाई काम करती कि नहीं करती यीशु का नाम लेकर उसने लई खाया खट से बुखार उतर लोग एकदम छोड़ अनाड़ी मूर्ख है कहेंगे देखो देखो ना इसका नाम लेते ही बुखार उतर गया आधे घंटे के अंदर अरे हनुमान जी हनुमान जी सब बेकार इनका नाम ले लेके थक गया ऐसे ऐसे करते मैंने कहा अच्छा हमारे पास हम भी दवाई बांटते हैं तुमको मालूम नहीं आओ हम भी दवाई बांटते उसको मेरे लकड़ी का बुरा तो नहीं होता चोर वो दिया यीशु का नाम लेके कहा पता चला था छोड़ो सोच होगा कि नहीं होगा वही और बंद गया और दो तीन दिन देखा यीशु ने टट्टी बांध दिया तुम क्या फिर हमने त्रिफला चूर्ण दिया ये लो त्रिफला चूर्ण उसे भी मिक्स कर दिया बुरादे मिक्स कर दिया चोकर मिक्स कर दिया लो अब उसी दिन थैड से हो गया गर्म पड़ने से रही ना भगवान का नाम लो राम राम लो दोनों का टेस्ट पता चल नहीं नहीं पता चल के चले तो उसे बुरादा डाल दो रंग वही कर दिया राम का नाम लेने से टेस्ट बदल गया क्या समझ रहा उसको डाल दिया में जब तेरा भगवान खुद अपने आप को बचा नहीं रहा जल गया कोई बात नहीं हमने पत्थर का मूर्ति लाया हमने उसको जलाने बोलो उसको तरा दे ईसाई को बोलो इस मूर्ति को जला दे तरा दे लेकिन उनके यीशु को मैं दिखाता हूँ उनके यीशु को भी हम दिखाएंगे ना प्लास्टिक यीशु लाया मैंने देखो को पानी में भी तैरक नहीं तैर रहा ये देखो आग में डाल दे जल गया कि नहीं जल गया पंखा के सामने तो उड़ गया हवा से देखो क्या हमारा ये उड़ रहा क्या करें की के साथ कुतार्क करना पड़ेगा पत्थर की महिमा है नाम का नहीं है पत्थर के इशू ना वो भी उड़ेगा नहीं वो भी जलेगा नहीं ये जो प्लास्टिक का है इसलिए जल गया उड़ गया तैर गया अच्छा तो सलाह बिल्कुल बना रहे थे उसके बाद उन गांव के लड़कों ने सबने मिल करके उसको पिटाई कर दिया पादरी को भाग्य छोड़ जा लेकिन खतरा हमें हो हमको भी छोड़ के जाना रांची के पास बिलासपुर के पास जाना तो ईसा लोग पीछे पड़ गए इसको खत्म करो इस खतरनाक आदमी कहाँ से आ गया महात्मा ये तो हमारे सारा भट्टा बिटा दिया तो भी की उनके यही हाल होता है यदि वो भी जानते हैं ऐसी बात नहीं समझ पाते लेकिन विवेक इतना दृढ़ नहीं हो पाता है कि अपने सर्व प्रतिष्ठान की बनती नहीं है इसलिए गलत सोचते हैं इसे कहते आती लोक यथा लोहदती दृष्टान आत्मनो अविज्ञेयम किमत रस्म लोके परिशिष्ट क्योंकि आत्मा वास्तव में क्या है अविज्ञेयम आत्मनो अविज्ञेय किमत रस्म लोके परिचित है आत्मा के द्वारा अविज्ञेय होता वस्तु इस लोक में क्या रह गया है बताओ अर्थात किंचित में परिशिष्यत कोई तत्व ऐसा नहीं संसार के अंदर जो आत्मा के द्वारा प्रकाशित आत्मना विज्ञेयम कहने का मतलब जो कुछ भी है संसार में सब कुछ आत्मा के द्वारा विज्ञेय है या अवग्र चिन्ह देना चाहे आत्मनो अविज्ञेयम जिनका नहीं हो वो अवग्र चिन्ह दे देना यस्य आत्मनो अविज्ञेयम यहाँ ठीक है यस्य आत्मनो अविज्ञेयम न किंचित परिषद है स आत्मा सर्वज्ञान जिस आत्मा का अविज्ञ कुछ भी नहीं रह गया है अतएव वह आत्मा को मुझे कहना पड़ेगा कि वो सर्वज्ञ है सब कुछ को जानने वाला है एक यही है वह जो किम तत् चिकित्सा पृष्ठम क्या है वो जो नचिकर पूजा किया था देवादि चिकित्सित धर्मादिभ्योन्य विष्ट परम पदम यस्मात् परम नास्ती तद्वा अधिगंत अधिगतम जो नचिकेत पूछा गया था देवादिपिरपियो विचिकित्सितम किलो इत्यादि धर्मादिप्यो अन्य अन्य धर्म अन्य धर्म इत्यादि और तद विष्णु परम पदम यस्मात् परम नास्ती इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो नचिकेत द्वारा पूछा गया था तत्व एक तदिगतम बस वही इस प्रकार से जाना गया है ऐसा समझो कहते हैं महाराज तो ठीक है लेकिन समझ में नहीं आता है क्यों नहीं पकड़ में आता कभी क्या करे वो अत्यंत सूक्ष्म है एक बार बोलने से नहीं आता एक बार सुनने समझने से काम नहीं चलता इसे श्रुति में बारम्बार बारम्बार इस बात तत्व को अनेक प्रकार से समझा अतिसूक्ष्म ध्रुविज्ञेय मत्वा एकदमेव अर्थम पुनः पुनराह अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते और दुर्विज्ञ होने से इस आत्म तत्व को यह जान करके कि यह दुर्विज्ञ है दुर्विज्ञ क्यों है क्योंकि अति सूक्ष्म है यह जान करके श्रुति उसी तत्व को एकदम एवं अर्थम उसी पदार्थ को तत्व को पुनः पुनः आह बारम्बार स्वप्नातम जागरितांतम जो भव्य नानुपश्यति महांतम मत्वा धीरो न शोचती स्वप्नांतम जागृतांतम उभव ये न अनुपश्य ये न आत्मना जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा से जिसके द्वारा यह मनुष्य स्वप्न के सकल पदार्थों को और जागृतांतम जागर स्व में भी दिखाई देने वाले सकल पदार्थों को दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है भव अनुपश्य वो जो आत्मा कैसा है महानतम एवं आत्मा उस महान और व्यापक आत्मा को आत्म रूप से ही प्रत्यक्ष अनुभव करके जान करके धीरो न सोचती जो बुद्धिमान है वह पुरुष कभी शोक नहीं करता क्योंकि वह समझ लेता है ये सब जो है हमारे बाहर जो कुछ भी है सुख दुख वगैरह हो रहा है वह सब इन सबको देखने वाला मैं हूँ और मेरे अपने स्वरूप न सुख है न दुख है न कुछ नहीं है ऐसे जब ये जान लेता है अपने दृष्टि भाव में साक्ष्य भाव में स्थित हो जाता है उस कोटा स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति कभी शोक नहीं कर सकता शोक मोह दूर हो जाता है स्वप्रांडम स्वप्न मध्यम स्वप्न विज्ञान स्वप्न काल में जो की स्वप्न पदार्थ तथा जागृदांतम जागृत मध्यम अंत शब्द मध्य पर्यवाची जैसे जागृत विज्ञेय जागृत काल में जो बुद्ध सकल पदार्थ है स्वप्न जागृदान्त ये न आत्मा नश्यति लोक सर्व पूर्व जिस आत्मा के द्वारा जागृत और स्वप्न के सकल पदार्थों को अनुभव करता है यह साधारण मनुष्य भी शेष यहाँ जो भी शास्त्र करनी है वो पूर्वत समझना लोक कहने से है ना सामान्य आदमी नहीं जनता है ऐसे कैसा होगा तो वो सब पूर्वत सबसे बाजना चाहिए तम महान तब महात्मा अवगम्य उस महान और व्यापक आत्मा को जान करके अनुभव करके आत्मभावे न साक्षात हम अस्मी परमात्मा इति आत्मा से अनुमान अनुभव कर लिया कैसे अहमेव तत्परमात्मा ब्रह्मास्मी हम ब्रह्मास्मी ऐसे अनुभव करके धीरो न सोचती धीर जो शोक को प्राप्त नहीं होता और बात यह है और आत्मज्ञान से निर्भय भी होता है जो शोक निवृत्त हो गया भय भी निवृत्त हो गया एक वहां सात अवस्थाएं जो पंचदशी में वर्णन किया है पहले शोक हुआ मोह हुआ शब्दार्थ ज्ञान बाह्य हुआ उसे परोक्ष फिर उसका अपरोक्ष कर ली अपरोक्ष से शोक निवृत्ति हुआ शोक में से तृप्ति बीच वर्णन किया तो उसके बाद भय निवृत्ति ये सप्तदा <clears throat> वर्णन पंचदशी में आता है वही शोक से मोह भी निवृत्ति ले लेना मोह निवृत्त होने से तृप्त होता है केवल शोक निवृत्त होने से तृप्त नहीं होता है मोह बना रहेगा तो भी तृप्ति नहीं हो सकती किसी एक विषय में शोक निवृत्त हो जाए अन्य विषय में मोह बना रहेगा तो उस विषय को लेकर वो अतृप्त जरूर रहेगा भले शोकवान नहीं है इसलिए यहाँ तृप्ति को भी अलग से वहां लिया जाता है जिसको वो मोह निवृत्ति के रूप में कहा गया उसको यहाँ नहीं भी कहा है मंत्र ने लेकिन शोक से साथ मोह दोनों के साथ अविद्या को भयाप्त कारण होने के कारण से उसको ले लेना है निर्भयता को ले रही है इम मदम वेद आत्मान जीव मंतिका ईशानम भूत भव्य न ततो तो विज गुप्त एक जो कोई पुरुष इमम मधुदम वेदा यह मधुद मधु इव अति स्वकर फलम अनुभवती भूमदेवा इति मधुदम वेद आत्मान जीव मंदिकांत यहाँ पर आत्मा शुद्ध आत्मा है ना इसलिए जीव विशेषण दिया जीवम आत्मा मैंने जीवात्मान न प्राणादि कार्यकलाप विशिष्टम आत्मानम आत्मा ही इस कर्म फल रूपा मध्वद को भोग करता है धारण करता है ऐसा वेद जानता है अंतिकत वेद अत्यंत समीप से स्पष्ट रूप से जानता है अथवा अंतिकात को अलग कर दो जीव आत्मान इमम मध्वदमिति यह वेद ऐसा अलग कर बाकी वाक्य जो व्यक्ति यह जीवात्मा जो प्राण आदि जिस देहादि संघात वाला है वही सकल कर्मों के फल का भोगता होता है ऐसा जानता है और अंतिकात समीप है समीप से क्या जान रहा है ईशानम भूत भव्य भूत और भव्य कारक त्रय का वर्तमान को विग्रहण होना है आदि और अंत कह दिया है ना इसलिए भूत और भव्य मैंने वर्तमान भी आ गया काल त्रय का ईशिता मही हूँ ऐसे वो जब जान लेता है न तो, तो विजुगुप्त ऐसा विज्ञान के ऊर्ध में ऊर्ध काल में आत्मविश विचार को लेकर के कभी और भयभीत नहीं होता बस यही है वह तत्व जो तुमने पूछा था यह कश्चित इमम मध्वदम कर्म फल भुजम मधु मधु अत्यति मध्वदम मध्वद मध्वत बनेगा तम मध्वदम सरा पर लो हम माया मध्वदम हो गया यह अच्छा जी लेकर मध्वदा बना मध्वदा मध्वदौ मध्वदा मधुदम मध्वदौ मधुदान इत्यादि रूप बनेगा रामवत्स क्लिप hmm? करोगे तो हलंत रहेगा है ना और यदि अकारांत कर दोगे हलंत रहने पर भी अम है तो कोई दिक्कत नहीं यदि आप अति कर्तरी कुछ कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं कर्तरी में पचास देच का पचास जगह हच कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं करने से दिक्कत होगी कित का फल क्या है कित का फल क्या होगा तो इसीलिए वो उचित नहीं अच करना सबसे बढ़िया सरल विजाती इसलिए कहते हैं मध्वजम करबल भुजम करबल भुक नहीं कहा तम भर भुजम ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं लगता है आज प्रत्यांति मान के चल रहे हैं किसी भी स्पष्ट नहीं होता है भाष्य से कि ये हलंत मान रहेगी अदंत मान रहे हैं जीव प्राणादि कलाप धारितारम प्राणादि कलाप का जो धारण करने वाला ऐसा जो आत्मा जीवम आत्मा इसलिए विशेषण शुद्ध आत्मा नहीं लेना वेद मैंने विजाना थी ऐसा जो कोई भी साधक जानता है कि भाई जो प्राणादि का समूह को धारण करने वाला जो विशिष्ट आध्यात्मिक जीव है वही कर्मफल का भोक्ता है शुद्ध में जो आत्मा कर्मफल भोक्ता नहीं हूँ किंतु उल्टा क्या जानता है अंतिका अंति के समीपे ईशान ईशिता कस्य भूत काल बल्कि उल्टा ऐसे जानता है भीतर से समीप से मैंने आंतरिक रूप से ही जानता है मैं कालत्रय का वास्तव में ईशिता हूँ ऐसा वो अच्छी तरह से जानता है तथा तद विज्ञान ऐसा विज्ञान पाने के कारण से ही ऊर्धम आत्मानम न विजुगुप्सत है उसके ऊर्ध काल में वह अपने आप को लेकर कभी जुगुप्सा नहीं करता न गोपयी तुम इच्छति अभय प्राप्त अपनी रक्षा करने की इच्छा वो नहीं करता है क्योंकि वह अभय को प्राप्त होता है अर्थात भय रहित हो गया जो भयवान पुरुष है वही चारों तरफ से जो है रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय बनाता है यावत ही भयम भय मध्यस्थ अनित्यम मात्र मन्यते तावत गोपित उच्चती आत्मा जब तक भय के मध्य में स्थित अपने आप को मानता है इस अनित आत्मा को स्वीकार करता है तब तक ही व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास करता है यदा तो नित्यम अद्वैतम आत्मन विजानाती और जब इस बात को जानता है कि मैं नित्य हूँ अद्वैत हूँ विशुद्ध अभय स्वरूप ही हूँ ऐसे जब आत्मा को जान लेता है तब किंग का कुतोला गोपाई तुम इच्छा है वह किसको किससे और कौन इसकी रक्षा करने की इच्छा कर पाएगा ये तो द्वैत पूर्वक यह प्रत्येगात्मा ईश्वर भाव निर्दिष्टा सर्वात्मा दर्शे थी जो प्रत्येगात्मा अभी कात्रिक ईशिता के रूप में जो दर्शाया गया था वही वास्तव में सर्वात्मा है स्व सर्वात्मा ये जब थी इसी बात को दर्शाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है यह पूर्व तपसो जातम अद्य अजात गुहां प्रविश्य तिष्ठत यो भूते ये एक तत् यह जो मुक्षो जात भी अभी पूर्व जात जलादि भूतों के अपेक्षा से पहले उत्पन्न है तपसो भी पूर्व में जाए और तप से भी पहले तप से पैदा होने वाले जितने भी हैं उनसे भी वो पहले उत्पन्न हुआ है तब से पैदा होने वाले कौन है हिरण गर्भादी लोग उनसे भी पहले ये पैदा हुआ है अद्भय पूर्व अजायत ये भी तो कह रहे जो कुछ भी तप से जन्य है उससे पूर्व दोबार पूर्व नहीं तो नहीं होता ना यदि एक वाक्य अन्वय करेंगे दोबार पूर्व कैसे करते पूर्वम तपसो जातम अद्य पूर्वम अजायत दो तो कह रहे हैं दो बार पुरुष शब्द नहीं हो सकता आपकी जैसे चलेंगे नहीं हिरण्य गर्भ पहले प्रकट हो गए हम्म। और हिरण्य गर्भ से प्रकट हुए वो लोग कौन मतलब वो तो हिरण्य से पहले कहने से सृष्टि से पहले बोलने की जरूरत क्या है इसलिए हम बोले ना हिरण्य गर्भ किससे पैदा हुआ वही पांच भौतिक शरीर वाला है ना अपंच पंचभूत तक पांच भौतिक शरीर तो उसका भी है इसलिए वो अलग गिना है अद्व्या मैंने अपंचकृत पंच महाभूतेभ्यो भी पूर्व आत्मा अस्ती और तारश अपंचकृत पंच महाभूतों का अभिमानी जो हिरण्य उससे भी जो तपाल से जन्य होता है उससे भी पूर्ण में गुहाम प्रवेश तिष्ठम वह जानता ही हो भूते भी व्यपश्यत भूते भी जो भूतों भूतों के सहित बुद्धि रूपी गुफा के अंदर भूते भी है ना तृतीया सहार्थ में ना भूतों के सहित इस गुफा के बुद्धिर्भि गुफा में स्थित हुआ देखता है व्यपश्यत सर्व विविध रूपेण विशेष रूपेण च अपश्यत जो सारे संसार को विविध रूप से और विशेष रूप से अनुभव किया करता है बस उस आत्मा को ब्रह्म करके मुक्षु जानता है निश्चय वही यह ब्रह्म है ये तद वही यह मैंने कश्चित मुमुक्षु जो कोई भी मोक्ष हो पूर्व प्रथम तपसो ज्ञानादि लक्षण ब्रह्मण इत जातम उत्पन्न हिरण्य गर्भम देखो ज्ञानादि लक्षण जो है ब्रह्म उस ब्रह्म से जो है उत्पन्न होता है पहला हिरण्य गर्भ चूंकि तप से उत्पन्न तप क्या है पर ज्ञान आदि ज्ञान आदि लक्षण तपसो ज्ञानादि रूपा जो तप से तप विशिष्ट ब्रह्म से जो पहला उत्पन्न होता है जो हिरण्य उससे भी पूर्व में वो आता मेरा स्वरूप था ऐसा हो जाता है मुमुक्ष किम अपेक्ष पूर्वम इत्या अभ्य पूर्वम सहित पंचभूतेभ्यो न केवल अभिप्राय यहाँ कहने से पूर्व कहता है आप सहित सारे पंचमहाभूतों को लेना केवल जल नहीं लेना पंचभूतेभ्यो न केवलाभ्य केवल जल से पहले था ऐसा नहीं कहना कि सभी से पहले था इतिप्राय पंचीकृतेभ्य वदेयम पंचभूतेभ्य में भी पंचीकृतेभ्य तपसो हो जाता क्यों पहला हिरण गर्भ ले लेना हिरण्य गर्भ के बाद जो उत्पन्न कौन होता है पंचकृत पंच महाभूत ये विपरीत क्रम से लेते पहले उसको लेते आप अद्भुत पूर्व में जाए तो अपंचकृत पंच महाभूत लेते फिर हिरण्य गर्भ लेकिन पहले हिरण्य गर्भ ले लिया अतः उसके बाद क्या रहेगा पंचकृत पंच महाभूत ही होगा इसलिए उसका निषेध बनना चाहिए उससे भी पूर्व में ये शुद्ध स्वरूप था न केवल आप अद्वैत अजायत उत्पन्नो यह तम प्रथमजम देवादि शरीरान उत्पाद्य क्योंकि ऐसा है जो उत्पन्न है कौन जो प्रथमज है देवादि शरीरान उत्पाद्य सर्व प्राणी गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य वो जो समष्टि का बीमारी हिरण गर्वा क्या करता है वो देवादि अनंत शरीरों को पैदा कर लेता है पेड़ पौधा कीड़े मकोड़े सारा चौरासी लाख योनियों को पैदा कर लिया और सारे योनियों का बुद्धि में उत्पाद्य सर्व प्राणी ग्राम हृदयाकाशम प्रवेश्य सकल प्राणियों की जो गुफा है हृदयाकाश है उसमें प्रवेश कर, प्रवेश करके इष्टतम शब्दादि उपलब्ध वहां बैठ के कर क्या रहा है शब्दादियों को उपलब्ध करता हुआ भूते भी भूत ही करण लक्षण ही सा कार्यकरणात्मक तो इस सभी के साथ विराजमान रहता है यो वे पश्यता यह पश्यती जो वास्तव में उस इन सारी चीजों को देखता है बस वही आत्मा है एवं पशती स एक देव पशती क्योंकि जो इस प्रकार से देखता है वो उस ब्रह्म को ही देखता है यह तत् प्रकृत ब्रह्मा जो वह यह प्रकृत शुद्ध ब्रह्म है वही यह है या प्राणे न संभवती तिरदेवता मई गुहाम प्रविश्य तिष्ठती या भूते भी जायत एक तत् जो सर्वदेव स्वरूप अदिति है अदिति से हिरण्य गर्भ ही लिया जाएगा वह हिरण्य गर्भ रूप से जो अनुभव में आता है वह प्राण है ना वह परम रूप प्राण से ही उत्पन्न होती है अदिति और गुहाम प्रविश दुष्टंदीम और बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश कर भी रहने वाली वही है और जो कि भूत फिर विजायता भूतों के साथ उत्पन्न होती है उसी को निश्चय रूप से आप ब्रह्म करके जानो वही अब ब्रह्म है तत्वी जो तुमने पूछा था किंचा भाष्यकार कहते हैं या सर्वदेवदा मयी सर्वदेवदात्मिका प्रायणा प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण जो सर्वदेवता में यह सर्वदेवतात्मिका है वह हिरण्यगर्भ रूप से पर्सनल ब्रह्मण संभव पर ब्रह्म परमात्मा से ही वह हिरण्य रूप से उत्पन्न होता है पर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है शब्दादी नाम अदनाथ अदिति इसका नाम अदिति कैसे पड़ गया हिरण्य गर्भ का शब्दादियों को उपभोग करने के कारण से समष्टि रूप में स्थित होकर के सकल विषयों को उपभोक्ता होने के कारण उसको अद्वितीय कहते हैं तीन ताम पूर्वक गुहाम प्रविश्य ऐसी हिरण्य रूप स्वरूप स्थित अदिति पूर्वत बुद्धि गुफा के अंदर प्रवेश करके तिष्टीम अदितिम विराजमान एवं अदिति हिरण्य गर्भ रूप से ताम एवं उसी को कहता है फिर यहाँ भूते फिर बने भूत ही समय बिता बेचाए था भूतों से के सहित जो उत्पन्न हुआ करता है वह वह हिरण्य गर्भ का भी कारण शुद्ध ब्रह्म ही है ऐसा उस ब्रह्म को रहा उत्पन्ना विजय का अर्थ कर दिया उत्पन्ना है इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा को ईश्वर भाव से निर्देश करने के लिए पहले सर्वात्म भाव का कथन किया जो कि तपसो जाए तब पूर्व पूर्व चाहे जाए तो भूते फिर व्यपश्यत यहाँ भूते फिर वेजायत है ना वह सकल भूतों के साथ एक ही भूत होकर सर्वात्म भाव से उसको देखता है और यहाँ सकल भूतों के साथ उत्पन्न होता है ये क्योंकि इसलिए कहना पड़ता है जो सकल भूतों को अनुभव करने वाला देखने वाला ऐसा कहने से आप समझेंगे शायद वही नीति दृष्टा होगा सकल जीवों को भूतों को अनुभव करने वाला है तो आप समझेंगे यही दृष्टा है यही साक्षात नित्य परम परमात्मा है तब कहते कि नहीं नहीं वो भी इन सब के साथ पैदा हुआ है जो समष्टि हिरण्य गर्भ दृष्टा है वो भी पैदा हुआ है लेकिन उसको हम जीव नहीं कहेंगे इतना ही है इसी वजह से उसको अलग से पहले कहा उसके अंदर जीवत्व को स्वीकार नहीं करते हैं किंतु उसके अंदर ईश्वर कहेंगे किसको योगिक वा, योग वाले कहते पुरुष विशेष हो ईश्वर है हाँ? पुरुष विशेष कह दिया जीव विशेष कह दिया जिसमें जो क्लेश कर विपाक से अपरामृष्ट है वो है ना यही तो सूत्र है क्लेश कर हो पुरुष विशेष हो ईश्वर कहते जीव को ही वो मान रहे तो पुरुष विशेष को मान रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि किसी प्रकार को बंधन में नहीं है और ईश्वर पद को प्राप्त किया है साक्षात्कार किया हुआ प्रारूप कर साथ ईश्वर पद को प्राप्त किया हुआ है क्योंकि हम तो बहुत सारे देवताओं को भी ऐसे मानते हैं वो जीव नहीं जैसे यमराज जी का जिसका प्रसंग चल ही रहा है यमराज जी भी क्या है साक्षात्कार कर चुके हैं साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है लेना ऐसा कार्य पहले बन चुका था जिसके यम पद पर विराजमान है इसे हम जीव नहीं देंगे जीवन मुक्त है तो जीव कैसे तो जीवन मुक्त है वो अतएव जो है यहाँ पर पहले कहा उन जीवों के सकल विषयों के सहित उपभोग करता हुआ सभी को देखने वाला ऐसा कह दिया ताकि उसके अंदर उस हिरण्य गर्भ में ईश्वरत्व में ला करके जीवत्व का निवारण किया पूर्व मंत्र लेकिन उसका मतलब वो पर ब्रह्म शुद्ध ही है ये मतलब समझे आप ये भ्रांति को निवारण करने के लिए भूते भी भेजाए तो यहाँ का वो भी भूतों के सहित उत्पन्न हुआ है वो हिरण्य गर्भ जो ईश्वर है वो भी उत्पन्न है वह शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला नहीं है इसको ज्ञापन करने के लिए दोबारा ये मंत्र कहा गया था इतना ही नहीं उसी हिरण का और समझाने के लिए विश्लेषणांतरों से कथन किया जा रहा है अरण्योर निहित तो जात वेदा गर्भ सुभ्रदो गर्भिणी भी दिवे हविष्मिर मनुष्य भी मनुष्येभिरग्नि ये तद्वी तत्व अनेक दृष्टांतों से समझाते हैं अरण्य और निहित जात वेदा इव अरण्य दो अरण्य होते हैं अरण्य मंथन किया जाता है अग्नि का निष्पादन करने यज्ञों में अरण्य मध्य यथा जात वेदा निहिता अरणी के बीच में जो अरणियों के बीच में जिस प्रकार से अग्नि छिपा हुआ रहता है उसको आप मंथन के द्वारा प्रकट कर देते हैं अथवा यथा गर्भिणी गर्भ सुहृतो युवा जैसे गर्भिणी लोग औरतें क्या करती हैं अपना खान पीन आहार विहार सबको बड़ा संयम से संभालते हुए उस अंतस्थ गर्भ की रक्षा करते हैं सुहृत सुष्टु प्रकार भरण पोषण किया करते हैं उसी प्रकार से समझो जैसे गर्भिणी स्त्रियों के शुद्ध अन्नपान आदि के द्वारा गर्भ की अच्छी प्रकार रक्षा की जाती है अतः वैसे जैसे कि जो अग्नि दोनों अरणियों के बीच में स्थित होता हुआ निगूढ़ है बाद में तो प्रकट होता है गर्भ भी निगूढ़ है बाद में प्रकट होता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझो और दिवे दिवे ईड्यो जागृवत भी जागृत भी नहीं जो प्रमाद शून्य रहते निरंतर जागृत है उत्तिष्ट से जागरण का कहते हैं ना प्रमाद रहित होकर के सगल कर जो कर्म परायण होते हैं वे लोग भी अपने मत भी होम सामग्री से युक्त होकर जो जी का याचक लोग है वे लोग और भविष्य हाँ, मत भी फिर मनुष्य भी मनुष्य भी मैंने उन लोगों को लेना उन ध्यान योगियों को लेना ध्यान रूपी भावना से युक्त जो योगी लोग है वे लोग भी अपने योग द्वारा पहला इसलिए यजन दूसरा हृदय देश हविष्मत विज्ञान याग में और मनुष्य भी के द्वारा हृदय देश में उसी नित्य प्रति दिवे दिवे नित्य प्रस्तुति के योग्य जो है वही ब्रह्म है उसी को समझो जो तुम्हारे द्वारा पूछा हुआ वस्तु है ये तो द्वैत यज्ञ और निहित उत्तर और अधर अरणियों के बीच में निहित स्थित जात वेदा अग्नि ही पुनः सर्व हविषाम भोक्ता सकल हविष का वो भोक्ता है अग्नि यह अधियज्ञ का दृष्टांत दृष्ट है ना अधियज्ञ में और अध्यात्म अध्यात्म में क्या दृष्टान दे रहे हो योगी वीर योगियों के द्वारा अपने ध्यान के माध्यम से योग मार्ग को अपराता हुआ हृदय रूपी देश के अंदर वो ध्यान किया करते हैं ध्यय रूपेण ग्रहण करते हैं और गर्भ इव गर्भिणी भी अंतर्वतनी भी अगर्भित अन्न पान भोजन आदि यदा गर्भ सुहृद सुष्टु समय वृदो लोका अथवा जिस प्रकार गर्भिणिया गर्भिणी का ही दूसरा शब्द को अंतर्वतनी अंतर्वतनी कहते गर्भिणी गर्भिणी शब्द स्पष्ट था व्याख्या और कठिन कर दिया अंतर्वतनी और वो लोग करते क्या है अघरित अन्न पान भोजन आदि ना अघरित एकदम शुद्ध अन्न पान भोजन आदि के द्वारा जिस प्रकार से गर्भ सुव्रता सुष्टु सम्यक सम्यक प्रकार से भरण पोषण करते हैं इस लोक में जिस प्रकार उसी प्रकार इतमेव ऋतिक योगी विश्व इत्या इस प्रकार से ऋतिक लोग और योगी लोगों के द्वारा सम्यक प्रकार से वह ब्रह्म तत्व का भी भरण पोषण किया जाता है अर्थात नित्य नित्य उसका स्तुति की जाती है दिवे दिवे पीटिया उसके साथ तो नहीं होगा किंचा दिवे दिवे ओहनी ओहनी ईट्य स्तुत्य वंद्या कई कर्मी भी योगी कर्मी भी कुत्र अध्वरे योग विश्व पुत्रा हृदय जागृत वीर का मतलब जागरणशील भी अप्रमत्त प्रमाद रहित होकर निरंतर दोनों का विशेषण है प्रमाद रहित होकर निरंतर जो कर्मी होते हविष्य में में भी बोला था ना पहले जो कर्मी कर्मी लोग है और अप्रभा जागृत भी विशेषण मनुष्य भी का भी है बिना कोई प्रमाद का नित्य निरंतर ध्यान आदि योग के माध्यम से हृदय गुफा के अंदर इत हविष्वीर आचार्य मत भी ध्यान भावना और निष्ठा हविष्वी मैं आज्यादि द्रव्यों को लेकर कर्मी करता है और योगी कैसे करता है हृदय गुफा में कहते हुए ध्यान भावनावत मनुष्य भी मनुष्य ही छांद मनुष्य भी मनुष्य ही के जगह पर अग्नि ही ये तत्व जिसकी वो स्तुति किया करते नित्य निरंतर इस विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा वह अग्नि और कोई नहीं है शुद्ध ब्रह्म ही है तद एवं प्रकृतम ब्रह्म वही है प्रकृत ब्रह्म है जिसको तुमने पूछा था अन्यत्र धर्म इत्यादि के द्वारा उसी को और भी विशेषण समझाते हैं उसी ब्रह्म को यतचोदे सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तंदेवा सर्वे अर्पिता तदु नात्येति कश्चन एक तत् जहाँ से दिन प्रतिदिन सूर्य उदय होता हुआ आप देखते हैं सूर्य उदित होता है और जिसमें वह नित्य निरंतर अस्त को प्राप्त होता है तम उस प्राणात्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि के रूप से अधिदेव में और यागा रूप से अध्यात्म में जिसको आपने देखा था आदिभूत में यहाँ पर सूर्य हो गया ना आज भौतिक पदार्थ विशेष है वह देवा सर्वे अर्विदा तम उस प्राणात्मा में ही सभी देवता लोग अर्पित है अग्नि आदि अधिदेव और वाघ आदि इंद्रिया अध्यात्म ये सारे के सारे उसी में अर्पित है तदुनाती कश्चन और उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता ये तद्वही तत्व वही असर्वात्मक ब्रह्म है यह तस्वीर अस्मान प्राणात उदय उत्तिष्ठते सूर्यो सब प्राण रूपी ब्रह्म से यह सूर्य का उदय हुआ करता है अस्तम निम्लोचन यस्मिन प्राणे हानि हानि और जिस प्राण रूपी ब्रह्म में ही प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ये अस्त को प्राप्त करता है तम प्राणम आत्मान देखो स्पष्ट कर प्राण क्या है शुद्ध ब्रह्म ही आत्मा है देवा अग्नियादि आदिदेव शब्द से अग्नियादि जतिदेव में क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना अलग अलग अभिमानी देवता है तीसरा उनका अधिदेव शब्द से लिया गया वाघादिश्च अध्यात्म और वाघादि जो आपके अध्यात्म है जो